Thank you.

ज्ञान विषय है वीर पुरुष अधिकारी है मन विधर्म निष्कर्म भी संजय दिए जैसी हवा बन रही है शरद या काफी क्या है लोग पा रहे हर हवा के पीछे जो दौड़ने लगे ना हर आवाज के पीछे दौड़ने लगे हाँ। और गांव में जब कोई बच्चा रहे है तो दौड़ गाय उसको चुप कराने के लिए तो अभी पूजा करेगा ध्यान करेगा कि बच्चों को चुप कराना तो बच्चों को चुप कराने वाली गाड़ी दूसरी होती है और ईश्वर के ध्यान में मग्न होने वाला दूसरा होता है ये दोनों में फर्क होता है दुनिया में महामारी रहती है बाढ़ हर साल कहीं न कहीं हर साल सेवा तो करने का विभाग रोज किसी न किसी को हर समय रहता है तो बीमारी की सेवा करने का विभाग रामकृष्ण मिशन है बोला पीढ़ियों की सेवा करने का और पीढ़ियों की सेवा करने की जिम्मेवारी दुष्ट तो सेवा कर्म है विधवा यतीम माना उनको खिलाना पिलाना है ना इसके लिए अनाथ आश्रम है ध्रुवाश्रम है समाज सेवा दूसरा विभाग है और अध्यात्म की अनुभूति दूसरा विभाग है जो सर्दी गर्मी को सह नहीं ले रहे तुलसी के लिए आर्थिक कार्यक्रम बना रहेगा तो अर्थ के उत्पादन में अर्थ के वितरण में अर्थ के विनिमय में अर्थ के सदुपयोग में उनका ध्यान जाएगा न और जो इन सब बातों को भुगत चुके हैं विरोध पहले से ब्राह्मण महासम्मेलन में सम्मिलित हुए हो वो तो शास्त्रार्थ होता था धर्म का निर्णय करने के लिए सारे भारत वर्ष के दृढ़ दृढ़ संस्कृत के विद्वान आए थे काशी में मालवीय जी की सनातन धर्म सभा देखी लक्ष्मण शास्त्री का धर्माश्रम स्वराज संघ देखा कितनी सेवा की संस्था देखी और कितनी राजनीतिक शांति देखी हो आपको एक आश्चर्य की बात सुनाता हूँ है ना जहाँ हमारी जन्मभूमि है ना जन्मभूमि तो वहाँ पार्टी कई है कृषक समाज है प्रजा सोशलिस्ट है कम्युनिस्ट है कांग्रेस है जनसंघ है स्वतंत्र पार्टी भी है लेकिन एक आश्चर्य की यहाँ को बताता हूँ कि जो हमारे पुत्र है ना पुत्र सब पार्टी वाले अपनी सदस्य सूची में उनका नाम रखते हैं ये कहो कि बुरी लक्कम पक्कम सब में होंगे कोई बात नहीं है वो किसी में नहीं है लेकिन वहां सब पार्टी वाले उनका नाम अपनी पार्टी में रखते हैं कि गुरु जी का नाम पार्टी में नहीं होगा तो दूसरे के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो एक बात सुन आती है तो जब चुनाव का प्रसंग आता है ना तो वो पांच बरस पहले वाले चुनाव में भी बंबई में थे और इस वर्ष वाले चुनाव में भी बंबई में थे क्योंकि चुनाव में देश खुल जाती है किस पाप इसलिए बताया अभी आज एक पत्रिका में देखा मैंने उनका विचार प्रवाह विचार प्रवाह होता है तो उन्होंने ये प्रतिपादन किया है कि देश में अन्न की कमी नहीं है बिहार में भी अन्न की कमी नहीं है और कपड़े की कमी नहीं है चरित्र की कमी आपकी नवभारत साइंस में विचार प्रवाह में आपको भी देखना वहाँ जो कमीजें जाती हैं उनका क्या होता है वहां वहाँ गुरुकुल जाते हैं उनका क्या होता है कपड़े जाते हैं हमारा ये कहना नहीं नहीं भेजना बोला खुद भेजना गरीबों की मदद करना लेकिन ये जो भौतिक दृष्टि है भौतिक दृष्टि में भ्रष्टता व्याप्त होती ऐसी कोई पार्टी नहीं होती ऐसा कोई समाज नहीं होता जिसमें सब ही है जहां दस आदमी शामिल होंगे वहां हम तो अनुमान करते हैं कि ज्यादातर स्वार्थी लोग अपना समाज बनाते हैं शेष को समाज बनाने की जरूरत नहीं होती और वकील आदि करता है शंकराचार्य ने सन्यासी समाज का संगठन नहीं किया था उनके नाम पर बाद में लोगों ने रामकृष्ण परमहंस ने मिशन नहीं बनाया था उनको बाद लोगों ने बनाया था ईसा ने ईसाई समाज का संगठन नहीं किया था दो हजार वर्ष पहले एक ईसा हुआ आज करोड़ों ईसाई हैं दो हजार बरस में करोड़ों इकाइयों ने मिलकर दूसरा हिस्सा पैदा नहीं किया हजारों वर्ष में मुसलमानों ने मिलकर दूसरा मोहम्मद पैदा नहीं किया महापुरुष जो निकलता है जो संगठन के दल पर नहीं निकलता है वो अपने चरित्र के दल पर अपनी सद्भावना के दल पर अपने सदविचार के जल पर निकलता है वो अभ्यक्त से व्यक्त होता है जो दीरा का है ये नहीं कि हर हवा के झोंके में उड़ गए हर हर गर्मी में जल गए हर ठंड में ठंडे पड़ गए हर समस्या में उलझ गए हैं धीर का अर्थ और बर्दाश्त बर्दाश्त करो प्रतीक्षा करो तो समाप्तम वेणु कश्यम धीरा जैसे आजकल की समाज सेवा आपको बताऊ जो बुद्धे हैं और बीमार हैं उनको खूब बढ़िया बढ़िया गया उनके लिए निकालो इंजेक्शन निकालो खूब सुनाओ उनकी उम्र को लंबी करो है ना ये है ना जो तेईस चौबीस बरस बीस बरस तीस बरस जो औसत आई थी वो आज चालीस पचास बरस हो गई यहाँ की हिन्दुस्तान में एक ओर तो मरने वालों की उम्र बढ़ाते जाए डॉक्टर लोग बढ़ाने का काफी कर सकता है और ये जो धीरे जो नए आने वाले हैं नौजवान उनको पेदल में मार डालो पैदल मत होने दो भूल हत्या को कानून कर दो है ना गर्भाशय का आकर्षण लू ये जैसे आपको भी सुनाते हैं ये विचार में दोष है तो वृद्धों को मरने दो है ना जो मरना मरणासन्न है उनको मर को तो जाने दो जो नए आते हैं उसको पता नहीं कौन सी बढ़िया चीज आने वाली है अब उनका स्वागत करो अन्य में लोग आत्मनिर्भर हो परिवार का व्यक्ति सह सब पराधीन हो जाए कि हमें जहाँ पैदा हो जाए वहाँ से हमारे पास आ जाए ऐसे तो उत्पादन थोड़ी करता है जब अपने ऊपर करती है जब करता है घर से पानी घर के लोग फिर कर आधा दूध से ले आते हैं और खेत में डाल के और पानी भर पैदा कर लेते हैं हमारी तो हमने तो खेती ही है समझो मैं तो काम पैदा किया ये पैदा किया तो भीड़ का अर्थ है कि जो हमारे हृदय का भीड़ जो है वो हो किसानों को किसानों को मेरा उनके मुर्दे को मचान करवा जाओ और पवित्र के होने की आशा करो ये धैर्य धैर्य का अभिप्राय जो कल होता है उसे होने दो जो कहा जाता है उसे कहा जाने दो जो किया जाता है उसको किया जाने दो तुम अपने धर्म में अपने हृदय में अपने आत्मा में विराजमान रहो जो झूठ नहीं होगा वो लोग है ना गीता में मात्रा प्रसाद कई तेज शीतोष्ण सुखदुष्टता आगमा वायु विद्या सांस प्रशिक्षत्व भारत है जिनके पास स्थान इकट्ठा हो गया है उनको बांटना चाहिए जो दूसरे को अन्न दे सकते हैं उन्हें देना चाहिए जो औषधि दे सकते हैं उन्हें देना चाहिए लेकिन अपने दिल को बचा के रखना चाहिए न जाना अधिकम दुखम एकम सोचित न रहती अशोकम तो यदि सबसे उपक्रम अपने शास्त्र का निर्णय ये है कि सारे देश का दुख एक आदमी अपने मन से दिल दिमाग में न लड़े बिना देश के मोह को अपने हृदय में लाए दूसरों की जितनी भलाई कर सकता हो करे हृदय का हरीर न टूटे तब तुम अपने भीतर देख सकोगे कि क्या है एक अवकाश है और वहां सिद्ध व्याप्त बुद्धि स्मृति रहती है उस बुद्धि में व्याप्त जो चैतन्य है उसको पहचानो उसको पहचानोगे तो नारायण संपूर्ण विश्व सृष्टि का रहस्य पहचान लोगे और उसको नहीं पहचान तो ठीक कर रहा हूं आत्मस्थम का अभिप्राय क्या है आत्मा का आधार शरीर नहीं है माने जैसे घरे में चालू रहता है वैसे शरीर में आत्मा रखा हुआ नहीं है जैसे शरीर की उपाधि से शरीर के घेरे से भीतर का अवकाश घिरा हुआ मालूम करता है परंतु वो घिरा हुआ नहीं है उसका भी दर्शन करता है अनुपश्यंती नाम अनुपश्यंती का क्या अभिप्राय है अनुदर्शन अनुदर्शन का अर्थ विषयीकरण नहीं है है ना ये जो देश धातु है उसी का कष हो जाता है वो कश्यंती जो है ना तो दर्शन की दृश्यंती ऐसा नहीं होता है ना धातु है दृश्य और उसका क्रियाकर्म है पश्यति पश्यता पश्यंती इसका आपको रहस्य बताता हूँ जरा हमारे व्याकरण पर भी कभी कभी ध्यान देना दुष धातु जो है वो धातु तो है परंतु क्रियात्मक नहीं है दोष माने दर्शन ज्ञान वो क्रिया नहीं है वो अनुभव है तो जब वो क्रिया का रूप ग्रहण करती है तो विदर्भ हो जाए उसको विदर्भ बोलते हैं तो जब वस्तु में विदर्भ होता है तो वस्तु साफ दिखने लगती है माने वो होती है कुछ और होती है कुछ तो, तो वृक्ष धातु जब क्रियात्मक होती है तो है तो वृक्ष लेकिन दिखती है पथ ये ये व्याकरण में एक स्थान पर ये बात नहीं है तो हमारे व्याकरण में सर्वत्र जानते है एक एक शब्द में है अरे तो व्याकरण का जो जिसको मालूम होता है ना वो बिना सूत्रे के बिना वृत्ति के ही जानता है कि व्याकरण का अभिप्राय क्या है आप जैसे अहम एक वचन है ना अहम लेकिन जब विघटन और बहुघटन होगा तो अहम लापता हो जाएगा आपको शायद कुछ करने मालूम है इसलिए याद दिलाता हूं अहम आगाम वयम विघटन में आगाम हो गया और बहुघटन में वयम हो गया एक घटन में जो अहम था तो कहां चला गया इसका नाम वेदांत है ना बहुवचन विवचन और बहुवचन में आप ही अहम लापता और प्रगट हो गया कौन का जीवाम और आगा हाँ। एक वचन में स्वम और विवचन हाँ। में तो जीवाम और बहुवचन में तो जीवम कोई नहीं गया वो कहाँ गया वो स्वम कहाँ गया बहुत के साथ ही एकत्र जो है इसका दर्शन बंद हो जाता है हम तो केवल अनुपष्टंती की बात आपको सुना रहे तुम व्याकरण पढ़ाने के लिए कभी करते हैं उसको तो हमारा विषय अलग है जैसे हम सांख्य के रूप का व्याकरण बताते हैं सांख्य रूप का व्याकरण है और कानूनी आदि जो व्याकरण है वो नाम के व्याकरण है उपनिषद में दोनों का व्याकरण बताया है नाम रूपे व्याकरवाणी के शब्द आने ना इसे विशेष आकार शब्द का रामा राम रामा शब्द को विशेष आकार देना इस व्याकरण का काम है और वस्तु को विशेष आकार देना इस सांस का काम है, है? और दोनों वेदांत के आधार पर विदर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं ये शांत और व्याकरण दोनों का अभिप्राय अनुपश्यंत अनुपश्यंती का अर्थ अनुदर्शा और अनुदर्शन का अर्थ एक लौकिक दर्शन होता है क्या जैसे ये दिव्या दिख रही है है ना ये घड़ी दिख रही है तो घड़ी विषय हो रही है विषय दर्शन के द्वारा दृश्य के द्वारा दृष्टि के द्वारा घड़ी देखी जा रही है और वो वो परमात्मा है आत्मा है वो घड़ी की तरह किसी भी इंद्रिय के द्वारा अथवा किसी भी मनोवृत्ति के द्वारा अथवा केवल मैं के द्वारा स्वयं के द्वारा हो और कुछ बात छोड़ो स्वयं के द्वारा भी स्वयं विषय नहीं होता है राक्षी तो मृग है न तो दृश्य है रूप दिखता है आंख देखती है आंख दिखती है मनोवृत्तियां देखते हैं मनोवृत्तियां कभी सुनती हैं कभी जागती हैं उनको देखने वाला साक्षी स्वयं कभी नहीं दिखता है उसका होना ही है उसका ज्ञानक स्वरूप होना ही उसका दर्शन है दृष्टि से विलक्षण होना ही उसका दर्शन है वो अनुभाग जैसे हम घड़ी को देखेंगे तो घड़ी हुई दृश्य और मनोवृत्ति और नेत्र से हुआ इसका दर्शन और मैं हो गया दृष्टा ज्ञाता तो ये क्या हुआ बोले त्रिपुटी हो गई त्रिपुटी परमात्मा के अनुभव में ये त्रिपुटी नहीं बनती घड़ी की तरह परमात्मा दृश्य है और इंद्रिय वृत्तियों के समान कोई दृष्टि वृत्ति है और मैं कोई सुरक्षा हूं ये तीन चीज परमात्मा के दर्शन में नहीं बनती आत्मा स्वयं है परमात्मा स्वयं है अनुभव स्वरूप है हाँ। ये सभी आपका कैसा है तो जैसे अनंत काल में एक सेकेंड होता है ना देते हैं अनंत काल में देते हैं तो आप क्या जानते हैं कि काल का कोई न कोई हिस्सा चेतन होगा अरे वो दिन का हिस्सा है ठीक है वो महीने का हिस्सा है ये भी ठीक है तो वो जल्द का हिस्सा है ये भी ठीक है वो युग कल्प का हिस्सा है ये भी ठीक है परंतु काल का हिस्सा नहीं है काल को अपने अधिष्ठान से विदा हो गई नहीं काल को अधिष्ठान में करते थे इसलिए काल में अधिष्ठान में कल्पित जो सावरण का उसका अंश चेतन है अकल्पित अधिष्ठान का अंश चेतन नहीं है अच्छा एक इंच देश अरे एक गज में एक इंच एक इंच देश है ये ठीक है है ना और हजार दिन में भी ये इंच देश है ये ठीक है लेकिन और छोड़ रहित देश में ये दस गज भी कल्पित है दस मील भी कल्पित है दस करोड़ मील भी कल्पित है और ये एक इंच भी कल्पित है इसी प्रकार वस्तु सत्ता में इस मकान के एक हिस्सा हमारा शरीर हो सकता है बोला और दूध का एक हिस्सा शरीर हो सकता है लेकिन इस सप्ताह में जितने संकट नहीं है के माने विस्तार भी और बिल्कुल भी जिस सत्ता में नहीं है उस सत्ता का कोई अंश ये शरीर नहीं है सत्ता में ही अंश शरीर नहीं है और चेतनता में भी अंश नहीं है, है? और आनंद में जिसे और पत्नियानंद और पुत्रानंद है ना ये परिचिन्न आनंद नहीं है एक ही आनंद एक ही आनंद भरपूर है चाहे गुरु की उपाधि से आवे चाहे पुत्र की उपाधि से आवे एक ही चेतन भरपूर है चाहे जीव दिखे चाहे ब्रह्मा दिखे चाहे कीड़ा मकीड़ा दिखे एक ही सत्ता भरपूर है चाहे वो पहाड़ दिखे चाहे राई दिखे एक ही सत्ता भरपूर है सत्ता में अंश नहीं होता वेतन में अंश नहीं होता आनंद में अंश नहीं होता काल कारण भाव नहीं होता आधार आगे भाव नहीं होता दृष्टा दृश्य भाव नहीं होता नारायण ये अनुभव बड़ा विलक्षण है ये तो दर्शन शास्त्र कोई ना वेदांत तो दर्शन कोई बच्चों का खुलवा नहीं है समात्मस्थम योनि पश्यंतु धीरा अनुदर्शन हो अनुभविता अनुभव और अनुभाव इनकी जो प्रकृति बनती है ये घड़ी अनुभव का विषय बन गई और अनुभव वृत्ति बन गया और अनुभविता अहम ज्ञाता बन गया ये प्रकृति जिसमें भाग रही है और जिसमें भाग रही है और जिस अकल्पित सत्य में ये कल्पित हो रही है उसका हाँ। अनुभव हो अच्छा, एक तो एक बार बनी हसी हुई एक सज्जन गए थे उत्तर काफी लौट के आए तो बोले कि मई महीने की दस तारीख से दस बजे दिन हमको ब्रह्मानुभूति हुई मई का महीना दस बजे दस तारीख और दस बजे दिन में ठीक ठीक हमको ब्रह्मानुभूति हो गई ऐसी आगे बोले लोग नोट करके रखते हैं कि हमको कुछ दिन ब्रह्म का अनुभव हुआ कई लोग नोट करके रखते हैं तो एक वृद्ध महात्मा थे बोले कि वो अनुभव तो तुम्हारा नष्ट हो गया मर गया तो कैसे मर गया महाराज क्या उसकी याद आएगी जिसकी याद आए तो मर गया भूत की याद आती है ना कल की आज याद आएगी गए की आज याद आएगी गर्व की आज याद आएगी एक मिनट पहले की अभी याद आएगी ये अनुभव तो तुम्हारा मर गया बोले तो अच्छा अनुभव मर गया तो यहां जब अनुभव तुमको दस बजे दिन में हुआ तो अब क्या हो रहा है अब क्या है अनुभव तो इस समय पैदा हुआ और उस समय मिट गया और तुम उसकी याद कर रहे हो तो अब क्या हो रहा है वो तो जो तुमको तब हुआ था अब क्या हो रहा है और तो स्मृति हो रही है हरे भगवान देखो एक बात सुनाते करना आपको स्वामी मंगलनाथ जी के वहाँ सत्संग हुआ स्वामी मंगलनाथ जी समझो भारतवर्ष के जो बड़े बड़े ब्रह्मविद महात्मा हुए हैं उनमें शुरू बहुत अच्छे संत ऋषि देश में रहते थे तो उन्होंने कहा कि देखो जो लोग कहते हैं ना कि हमको तो अनुभव हो गया आप शिक्षा नहीं है या अनुभव में है ना अनुभव शिक्षा नहीं है या अनुभव तो हुआ लेकिन उसकी स्मृति नहीं रहती है आप मेरा विचार करके देखो जिस वस्तु का अनुभव होकर के परोक्ष हो जाती है माने आंख को उजल हो जाती है उसकी स्मृति होती है चौपाटी पर देखा था यहाँ याद कर रहे हैं कल देखा था यहाँ याद कर रहे हैं है? और लाल पोशाक पहले देखा था तो सफेद पोशाक में देख करके याद आ गई पहले कल तो तुमने लाल पोशाक पहने थे आत्मा जो है अपना आपा ये क्या कल छूट जाएगा कि आज याद करोगे ये क्या सौभाग्य का बन जाएगा कि इसकी याद करोगे कल की पोशाक कल लाल की आज सफेद हो गई कि याद करोगे अरे ये तो स्वयं है भाई इसकी याद का क्या करोगे तो इसमें मूल बात क्या है जैसे तो जहाँ स्मृति होती है वहाँ वस्तु का अपरोक्ष नहीं है और जहाँ वस्तु का अपरोक्ष है वहाँ तो अनुभव ही है स्मृति नहीं है चलो हम आप लोगों को देख रहे हैं याद नहीं कर रहे हैं है? और जिसकी याद कर रहे हैं उसको देख नहीं रहे हैं और अपना आत्मा ये कभी किसी देश में किसी काल में किसी वस्तु के रूप में होता तो है नहीं ये अपना आप ही है अन्य का जब अनुभव होगा तब उसकी स्मृति रखनी पड़ेगी एक दिन श्री कृष्ण भगवान आपको दर्शन लेकर चले जाए है ना तब आपके हृदय में उसकी स्मृति रहा करेगी यही जिनको मैंने अमुक आकार में परमात्मा को देखा था ये आकार तो अब सामने नहीं है तो आकार जब सामने नहीं है तो याद आएगी आहा वो मुरली तो वो पीताम्बर तो वो मुक्ता वो चितवन वो विशाल वक्त फल है ना वो नृत्य वो संगीत याद आएगा हो क्यों मेरे वो आकार प्रगट हुआ था और वो आकार मुक्त हो गया तो स्मृति की धारा बन जाएगी हमने के रूप में आए थे वो स्वरूप में नहीं आए थे वो तो एक आकार धारण करके आए थे है ना अच्छा समाधि की याद आएगी आपको क्यों याद आएगी तो कल समाधि लगी थी आज तो लगी नहीं कभी आप बैकुंठ में हो आए थे तो याद आएगी उसकी कि हम बैतूल गए थे अमेरिका से लौट आए तो याद आएंगे समाधि की भी कल हम खुद दृष्टा के स्वरूप में बैठ गए थे और आज तो ऐसे नहीं बैठे तो तुम दृष्टा नहीं हो दादा है ना इस समय तुम किसके स्वरूप में बैठो इस समय तुम कौन हो कि जो चीज अन्य होती है और अन्य होकर के परोक्ष होती है जो स्वयं प्रकाश अपना आत्मा नहीं होती है उसमें स्मृति की अपेक्षा होती है और ये अपना आकार तो ये तो जगह पहले आत्मा पीछे जगह सब जगह मालूम पड़ती है जगह में नहीं मालूम पड़ती है सब जगह इस आत्मा में मालूम पड़ती है तो सब समय में मालूम पड़ता है समय तो नहीं सब समय इस आत्मा से मालूम पड़ता है सब जगह इस आत्मा से मालूम पड़ती है है ना सब वस्तु इस आत्मा से मालूम पड़ती है भेद तो मात्र इस आत्मा में अभ्यस्त है कल्पित है और इस आत्मा से प्रकाशित है इसलिए आत्मथा अनुदर्शन भी वो ईश्वर कहाँ है तो वो ईश्वर में तुम नहीं हो तुम ये ईश्वर हो तुम ज्ञान स्वरूप हो तुम्हारे एक ज्ञान के विशेष रूप में ईश्वर है और तुम्हारे ज्ञान के एक विशेष रूप में जीव है तुम्हारे एक ज्ञान के विशेष रूप में तुम्हारे ज्ञान के विशेष रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड है प्रकृति जीव ईश्वर तुम्हारे ज्ञान में है और ज्ञान बदलता हुआ तो नहीं होता कि अब ज्ञान ईश्वराचार हुआ अब ज्ञान प्रकृत्याचार हुआ अब ज्ञान जीवाचार हुआ ये तो ज्ञान में विवर्त है तुम स्वयं ज्ञान हो तुम स्वयं ज्ञान हो और तुम जीव ईश्वर का वेद जगत का वेद ये विवर्त है विवर्त है तो हर कश्यंती का अर्थ ये है कि जिसमें आगे हम परमात्मा को देखेंगे ऐसी कल्पना नहीं है और हम पहले देख चुके हैं तो ऐसी कल्पना भी नहीं है और उस समय हम विषय के रूप में देख रहे हैं ऐसी कल्पना भी नहीं है तो जो स्वयं है उसको कल्पना की अपेक्षा नहीं रहती हाँ। तुम्हें अपना नाम हमेशा याद रहता है क्या बोलो है ना स्वामी नंदन देव जी बोलते हैं अरे बोलो भाई बोलो भाई तुम्हें अपना नाम हर वक्त याद रहता है, तो क्या भूल जाते हो अज्ञान हो जाता है कोई तुम्हारा नाम लेकर के बुलावे तो तुम नहीं समझते हो या दूसरा नाम लेकर के बुलाए तो तुम नहीं कहोगे कि माफ करना हमारा नाम दूसरा है तो अपना आशा जो है ये कभी भूलता भी नहीं कभी विस्मृति का विषय नहीं होता ये कभी भूलता नहीं कभी याद आता नहीं इसके बारे में कल्पना होती नहीं और ये भक्त तक मत आदि की तरह दिखता नहीं ये स्वयं है और कोट कोट कल्पात्मक काल का दृष्टा है, है? और कोट कोट योजनात्मक देश का दृष्टा है देश की कल्पना काल की कल्पना ही में देख रहा है और कोटि कोटि ब्रह्म ब्रह्मांडात्मक पदार्थ का ये दृष्टा है ये ज्ञान की पूर्णा ज्ञान की किरण ज्ञान का स्वरूप सुखम शाश्वतम नेतरे काम जो ऐसा देखते हैं उनको शाश्वत सुख माने देखो बिल्कुल गड़गड़ाना नहीं चाहिए अपना नाम सुख है तुम्हारा सोना सुख है तुम्हारा जागना सुख है तुम्हारा सपना देखना सुख है तुम्हारा रोना सुख है तुम्हारा जन्मना सुख है तुम्हारा मरना सुख है है ना जो नाटक तुमने तुमको दिख रहा है उसमें तुम सुख रूप ही रहते हो रोने में बड़ा सुख है एक महात्मा से पूछा था कि महाराज गुस्सा आता है क्रोध आता है तो नहीं लिया करो तो तुम्हारा बंद करके हाँ, अरे अरे अरे आनंद वो गुस्सा आया ना तो ये नहीं कि दूसरे को गाली देने लगे और मारने लगे है ना हाँ उसको आंसू की तरफ आंसू पानी बन जाने लगे पानी बन के बह जाने लगे देखो क्या हल्का हल्कापन मालूम पड़ेगा आपको तुरंत गुस्सा आए और रो लो हाँ, हल्कापन मालूम पड़ेगा आपको आज पानी हो गई है तो आज परंतु पानी बन गई ठंडा हो गया हाँ, रो लो बोले रोने में तो हमको शर्म आती है हाँ। <laughs> भगवान कभी कभी तो रोना ना आए तो बड़ा दुख होता है हमको तो एक दिन एक दिन किसी ने यहाँ बताया था कि मातम पूर्ति करने किसी के घर गए तो चाहते तो फिर रोना आए है ना और रोना आता ही नहीं था तो हमारी नान मरी थी हमारे दादा मरे थे हमारे बाप मरे थे हमको तो हमारे पति ने एक दिन हाँ, जरा अहम शब्द कहा था तब याद किया कि कुछ याद करने पे तो रोना आए तो रोना आए और रोना आए बिना उनको तकलीफ हो गई बोला तो तो सुख और किसी का नाम नहीं है किसी के मरने का भी दुश्मन के मरने का नाम सुख नहीं है और मित्र के है ना सम्राट होने में कोई सुख नहीं है वो तुम्हारा मित्र है इसलिए सुख देता है तुम्हारा है इसलिए तुम हो इसलिए सबसे प्यारा अपना आता है ये भक्ति भक्ति बोलते हैं भक्ति भक्ति माने अपने आप में जो प्रेम है इस प्रेम को ईश्वर में डाल देना ईश्वर पूरा हो जाएगा ईश्वर को हम अविनाशी तो मानते हैं और सर्वज्ञ मानते हैं लेकिन ये बेचारा अधूरा पड़ा है तो क्यों अरे अरे उसको आनंद नहीं मानते आनंद से तो प्रेम किया जाता है तो अपना प्रेम अपने ऊपर जितना प्यार है ना उतना प्यार ईश्वर पर डाल दो तो वो तुम्हारी आत्मा हो जाएगा और उसका अविनाशी तना और उसका तना अपने में ले लो है ना तो तुम ईश्वर हो जाओगे क्योंकि आनंद करना तो तुम्हारे में स्वाभाविक है इसी को भक्ति बोलते हैं ज्ञान बोलते हैं ईश्वर को मैं बना देना और भक्ति बोलते हैं ईश्वर का पार्टनर हो जाना बोला जैसे कोई चार आना देख एक एक एक देख एक करोड़ रूपये का कर्म का हो है ना उसमें किसी ने पच्चीस हजार रूपया डाला बोले हम चार सुंदर हैं करोड़पति के तो अपने प्यार को अपने आनंद को ईश्वर में मिलाओ और ईश्वर की सत्ता और ज्ञान अपने आप में ले लो है ना तो तुम मालिक हो जाओगे बिल्कुल तुम हो जाओगे ईश्वर ये प्रियता ये प्रियता अपने आप में स्वाभाविक है और दूसरे में कृत्रिम है पत्नी में पुत्र में दान में है ना देवता में दान में जो प्रियता है वो बनावटी है और अपने आप में जो प्रियता है वो सस्ती है तो सुख कौन है तो जो सुख होता है वो प्यारा होता है और अपना आतंक सबसे ज्यादा प्यारा है हाँ, कहते हैं भगवान जरा हमारे लिए एक टोकरी आम को पहुंचा देना आज है ना कैसे भगवान राम को चोट लग गई है पर मरम पट्टी तो कर देना है ना ईश्वर को अपनी ईश्वर हम तो ईश्वर चाहिए कि बढ़िया से बढ़िया सेवक चाहिए ईश्वर नहीं चाहिए हमको बढ़िया से बढ़िया सेवक चाहिए जो हमको घर बैठे कपड़ा भेजे अनाज भेजे है ना मकान बढ़िया दे बेटी बेटा बढ़िया दे है ना हाँ, हम हमारे जब हम थक जाए तो हमारा पाँव बना दे है ना जब फिर में तो हो तो सिर है हमको इस धनिया का सेवक चाहिए ईश्वर नहीं चाहिए हम ईश्वर से तो अपनी सेवा लेना मानते हैं इसका मतलब हुआ कि प्यारा मैं है है ना प्यारा मैं है उसका अंग बनाना चाहते हैं ईश्वर को बोले हम ईश्वर के लिए मर जाना चाहते हैं कहा हाँ तुम शरीर को अपने हड्डी मांस जान को इसलिए ईश्वर के सामने बलिदान करना चाहते हो कि समूचा ईश्वर तुम्हारी आत्मा की मुक्ति में आ जाए ईश्वर को अपने काबू में करने परमात्मा है एको बहुनाम जो विरभाति काम ये तेजी है ईश्वर के मार्ग में बहुत लोग इकट्ठे होकर नहीं चलते हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में ईश्वर से एक हो जाना पड़ता है और वहाँ एक होते ही हृदय और हृदय का भेद बाधित हो जाता है प्रत्येक व्यक्ति को समाज ईश्वर को प्राप्त नहीं होता है ना ये जैसे व्यापारी लोग आपस में संगठित होकर धन कमाते हैं सबको लाखों रुपए का फायदा होता है व्यापारी संगठित हो जाते हैं जैसे समाज सेवी लोग संगठित होकर परस्पर मिल के समाज सेवा करते हैं जैसे भोग परायण लोग क्लब में सिनेमा में इकट्ठे होकर भोग करते हैं इस प्रकार कहो कि हम सब लोग इकट्ठे हो करके जैसे सिनेमा में पर्दे पर एक तस्वीर को हजारों लोग देखते हैं वैसे हम सब सब सब सत्संगी मिल करके सामने एक पर्दा लगा के और उस पर सब एक साथ ईश्वर को देखेंगे वैसे नहीं दिखता ईश्वर ईश्वर को देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अंतर्मुख होना पड़ेगा हो प्रत्येक व्यक्ति को अंतर्मुख होना पड़ेगा और बाहरी तरफ बाहरी कोष बाहरी स्तर बाहरी तरफ बाहरी पर्दे को छोड़ करके इतने सूक्ष्म स्तर में जाना पड़ेगा कि वहां जाने पर ये पर्दे हमको परिच्छिन्न न बना सके काट न सके और वो जो हमारा अपरिचित टीम अपरिच्छिन्न जो वो रूप होगा वो परमात्मा से एक होगा प्रत्येक को अपने लिए परमात्मा की प्राप्त है ना अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए प्रत्येक को अंतर्मुख होना पड़ेगा तो व्यस्टि प्रारब्ध समष्टि प्रारब्ध के फलदान में ईश्वर लगा है बोले भाई किसी ने पूछा कि ब्रह्मलोक सच्चा है अरे भाई ये बम्बई सच्ची है है ना जितनी सच्ची बम्बई है है ना उतना सच्चा ब्रह्मलोक है और वैकुंठ भी है कैलाश भी है गोलोक भी है साकेत भी है उतना ही सच्चा है तो बम्बई तो तुमको सच्ची लगे और ब्रह्मलोक सच्चा न लगे तो समझना कि अभी तुमको वासना में और स्थूल में भेद मालूम पड़ता है असल में ये स्थूल लोक भी वासनात्मक ही है और ब्रह्मलोक भी वासनात्मक ही है और अपने स्वरूप में न स्थूल वासना है न सूक्ष्म वासना है और न तो अविद्या के कारण होने वाला संबंध है और न तो है ना अपने स्वरूप की परिच्छिता से भ्रांति भ्रांति से अपने स्वरूप की परिच्छिता की भ्रांति से होने वाला सत्यत्व ही है हमारा ऐसा गोविंदाय नमो नम इस परमात्मा को कहा देखना समात्मस्थम तो ये नु पश्यंती धीरा जरा अंतर्मुख होके एक का परित्याग करके ये जो इच्छा है ना वो कर्म के द्वारा और बुद्धि को विपरीत करके वैर करके ये वासनाएं हमको संसार में बांधती हैं वासना अपने अनुसार कर्म करवाती है और वासना हमारी बुद्धि को संसार के समर्थन में लगा देती है इंद्रिया नाम निकलता यन मनोविधि अपे सदस्य हरति प्रज्ञान वायुर्नाव विवाम्बती बोले शास्त्राचार्य के उपदेश से इसमें अश्रद्धा नहीं करना हो है ना असल में वेदांत का एक अधिकार श्रद्धा भी है ये नहीं समझना कि ये कोई अंदर श्रद्धा है जो कोई बेवकूफ बनाने वाली है है ना आखिर जिसकी तुम बात सुनते हो उस पर भी तो श्रद्धा ही करते हो बौद्ध लोग बुद्ध पर श्रद्धा करते हैं कि और कुछ करते हैं जैन लोग महावीर स्वामी पर श्रद्धा ही तो करते हैं और तो शास्त्राचार्य के उपदेश से इतना कम से कम सीखो कि शुद्ध त्वम पदार्थ में स्थित होते ही तुम अपने को परिच्छिन्न नहीं मान सकते तुम अपने को अपरिच्छिन्न ब्रह्म जानोगे यदि शुद्ध स्वम पद लक्ष्यार्थ में तुम्हारी वृत्ति पहुंच जाए तो अनुपश्यंती का अर्थ है कि जैसे तुम्हारे गुरु ने देखा था जैसा गुरु के गुरु ने देखा था अनुपश्यंती अनुदर्शन का मार्ग है जैसा शास्त्र ने बताया है उसको जो अपने हृदय में देख लेता है उसको शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है नहीं तो महाराज अशांति ही अशांति हाथ लगेगी चाहे नाचो चाहे कूदो चाहे गाओ चाहे बजाओ चाहे पटापट गिरो है ना चाहे आंख बंद करके बेहोश हो जाओ जब तक उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक शाश्वती शांति नहीं मिलेगी अब इसके संबंध में एक प्रमाण देते हैं श्रुति भी प्रमाण देती है वो युक्ति पूर्वक ये पहले मंत्र में युक्ति थी अब दूसरे मंत्र में दृष्टांत प्रमाण है तदे तदिति मनते शिष्टा हमें शिष्ट है शिष्ट जे न सब विचक छिड़े जैसे ईसावासी परिषद में है ना ये न सब विचक छिड़े ऐसे कभी अतिथि है जब तक आत्मविज्ञानम वो जो अभिज्ञान आत्मविज्ञान है वो क्या है कई एकाश अपरोक्षा अरे परमानंद लो लूटो परमानंद लूटो परमानंद कौन है परमानंद तुम हो परमानंद नहीं नहीं ईश्वर है परमानंद एक ने कहा कि ईश्वर है परमानंद तो बोले तदेता इति मान्यंत शिष्ट पुरुष जो है वो तो कहते ईश्वर क्या और ये ईश्वर कहता है अनिर्देश्यम परम सुखम अनिर्देश्य निर्देश का अर्थ होता है इशारा को तक का अर्थ है परोक्ष नहीं प्रदेश में नहीं है तुम खुद हो और अनिर्देशम का अर्थ विषय नहीं है ऐसा अंग्रेज नहीं दिखा सकते कि ये है है ना मैंने विषय नहीं है और परम सुखम का अर्थ है आत्यंतिक है काल परिच्छिन्न नहीं है हमेशा रहेगा इसलिए परम है विषय नहीं है इसलिए अनिर्देश है और परोक्ष नहीं है इसलिए प्रदेशा है देखो सुख के बारे में किसी किसी की कल्पना है कि चाहे हम भूखे रहें लेकिन घर में पैसा रहे तो हम सुखी हैं खाते नहीं पहनते नहीं हो पैसा रखते हैं और पत्नी के पास लाख रुपया और एक दिन पति के पास नहीं रहा रुपया तो पत्नी ने कहा कि भूखे रहो कपड़ा मत पहनो लेकिन कमा के ले आओ तब घर में रोटी बनेगी है तो <laughs> वो तुम्हारा लाख रुपया किसका हमारेगा इसी दिन के लिए तो रखा हुआ था ना तो इकट्ठा करना सुख है ऐसा अर्थशास्त्रियों का कम अर्थपरायण अर्थशास्त्री नहीं अर्थपरायण अर्थपरायणों का मत है ना बोले कर्जा लेके खाओ लेकिन भोग करो ये भोग परायणों का मत है है ना हाँ, और अर्थ भोग होवे चाहे न होवे लेकिन लगे रहो ये कर्म परायणों का मत है ये कर्म परायणों का मत अरे बाबा अपना आत्मा सुख है तो देखो गीता में ये बात बताई तामसिक सुख क्या है जगद्रे चाम बंदे का सुखम मोहन महात्मा जो हम अपने को मोह में डाल करके सुखी होते हैं ये हमारा ये हमारा मकान हमारा स्त्री हमारी पति हमारा धन हमारा मकान हमारा मूर्ख करके अथवा बेहोश होके भान पी के शराब पी के है ना अफीम खा के जो सुख लेते हैं वो कैसा सुख है निद्रा आलस्य प्रमाद का जो सुख है वो क्या है कामक सुख है वो बोले विषयेन्द्रिय संजोगा जो सुख होता है वो पहले तो अमृत के समान है लेकिन पीछे हाँ, परिणाम सुख है वो राज सुख है वो तो नहीं चाहिए ना इस सुख का कोई तो वर्णन नहीं है जो सात्विक सुख है वो अभ्यास का सुख है अभ्यास आज हमते जत्र दुखांत क्षति गीता में आपने पढ़ाई है ना ऐसे सूर्य नमस्कार की रोज आदत पड़ जाए एक हमारे थे बड़े बूढ़े वो सूर्य नमस्कार रोज करते थे तो जिस दिन न करें उस दिन उनको दर्द होने लगे शरीर में और सूर्य नमस्कार कर लें तो शरीर बहुत हल्का रहे तो सूर्य नमस्कार का सुख जो है अब वो आदत पड़ गई ना तो दुख से बचते हैं ये आदत का सुख है वो है ना ऐसे आख किया ऐसे पीठ की ऐसे बैठे तो सुख हो गए ये सात्विक सुख है आत्मबुद्धि प्रसाद जब ये सुख कहाँ से आता है का ये मोह में से नहीं आता निद्रा में से नहीं आता और ये विषयेन्द्रिय संजोग में से भी नहीं आता आत्मबुद्धि प्रसाद जब अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से आता है लेकिन यही परम सुख नहीं है परम सुख कौन सा है गीता में देखो ये प्रसंग आया ना ये तो तीन तरह का हुआ सात्विक राजस और तामस परंतु एक सुख ऐसा होता है जो आत्यंतिक होता है, है? क्या है सुखम आत्यंतिकम यद हाँ, बुद्धिग्राह्य अतीन्द्रिया देशी यत्र स्थित चलती तत्वतः हाँ, सुखम आत्यंतिकम यद आत्यंतिक सुख आत्यंतिक सुख माने जो काल से न करे जागृत में रहे है ना जिस सुख तो वो है जब तक माला फेरी तब तक रहा और माला अगर रख दी तो मिल गया ये अभ्यास से सुख है अभ्यास वो अभ्यास देने सुख है तो ये सुख है कि जागते रहे है ना स्त्री पुत्र परागर अपना देख रहे हैं सुख में है है ना जागृत तो में रहा पर सुसुप्ति में तो सारा मिल गया और सपने में तो सपने में बैन होकर हल में जुटने लगे और घोड़ा पढ़ने लगा हो है ना हाँ। तो भजन गुरु बैल गिराने हुई हो स्वामी सुखदेवानंद जी बताते थे उन, उनका जन्म जरा मिठाई बनाने वालों के पंच में हुआ था ना तो कहते थे कि वे दुकान खुद बताते थे उसे बातें नहीं थे बताते थे कि मैं दुकान पर मिठाई की दुकान पर बैठता सामने थी सड़क तो बैलगाड़ियां लेकर के छोटे से कस्बे में जन्म हुआ तो जब वो बैलगाड़ी वाले निकलते ना तो हमारे दुकान के सामने सड़क में जरा गड्ढा हो गया था तो गाड़ी अटक जाती तो वो भरा सेना लेकर के और वो बैलों को पीटते तो हमको याद आती भजन गुरु बैल पुराने हो अगर भजन नहीं करोगे तो तुम्हारी भी यही गति होगी है ना बचपन में बचे हम जाते भजन गुरु बैल पुराने हुई हो भगवान का भजन नहीं करोगे तो यही गति यही गति अंत में होगी तो सुख का अत्यंत सुसुप्ति में है जागृत स्वप्न में नहीं है तो तामस सुख है और स्वप्न में है और जागृत सुसुप्ति में नहीं है तो वो राजस सुख है है ना और जागृत काल में ईमानदारी का जीवन व्यतीत करके जो सुख है वो सात्विक सुख है हमको तो जात नहीं चाहिए पाप नहीं चाहिए मजहब नहीं चाहिए है ना हमको तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चाहिए ईमानदार आदमी चाहिए जहाँ ईमानदारी नहीं है जहाँ ईमानदारी नहीं है वो क्या करेगा तुम अच्छा तो आपके अंतिम चाहिए सो बुद्धि ग्राह्य बुद्धि से ही मिल जाए कहीं जाना ना पड़े मान देश परिचय में नहीं चाहिए काल परिचय में नहीं चाहिए और अति इंद्रिया उसके लिए विषय भोग नहीं चाहिए विषय भोग के बिना और देशांतर में गए बिना नरक स्वर्ग वैकुंठ में गए बिना है ना अमेरिका इंग्लैंड गए बिना कहीं जाना न पड़े कुछ भोगना न पड़े और ऐसा सुख मिले जो कभी परिणाम को प्राप्त न हो निवृत्त न हो और ऐसा सुख हो जो अपने से कभी बिछुड़े नहीं और ऐसा हो जिसमें पराधीनता न हो और ऐसा हो जिसके लिए परिश्रम न करना पड़े और ऐसा हो जो हमेशा मत जगमग मत मालूम करता रहे सुखे ब्रह्म संस्पर्शान अत्यंतान सुतम स्मृत ऐसा सुख भला बताओ कि ऐसा जो सुख वो मैं ही स्वयं प्रकाश समझ रहा हूँ क्या उपनिषद का ऋषि बोलता है प्रथम तक बिजानिया किस इंद्रिय के द्वारा अनुभव करके बताऊ और किस मन से वासना बना के बताऊ और किस बुद्धि से देख करके बताऊ कि भाती आत्मरूपेण अथवा वो विभाती प्रपंच रूपेगा क्या मैं ही वो सुख अभिव्यक्त हो रहा हूँ क्या फिर रहा हूँ क्या मैं ही वो सुख हूँ क्या वो सुख ही इस प्रपंच के रूप में भाग रहा है वो सुख का समुद्र प्रपंच के रूप में लहरा रहा है वो सुख चंद्रमा के रूप में चांदनी बिखेर रहा है सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहा है वायु के रूप में सबका प्राण बन रहा है पृथ्वी के रूप में को धारण किए हुए है स्वयं भारतीय आत्मरूपेण वही मैं हूँ वही तुम हो और वही विस्पष्टम वही स्पष्ट प्रपंच के रूप में भाग रहा है क्या ये वही सुख है अरे कैसे जानू बाबा क्या कहता वही यह है और यही वो है हाँ। तो जैसे आता है ना तमो अभिदित्वाति मृत्यु में थी कमे उसको जानो कमयतम दुविधि शांति यज्ञ न दाने न तपसा कम एकम हाँ। जो वो है वही ये है जो ये है वही ये है इस रूप में इस रूप में नारायण दिवी दिशांति जज्ञे नो दाने नो तपसा सके न तो, अच्छा आज इस मंत्र का अभिप्राय कल सुनावेंगे हो एक बार